दुनिया में क्या क्या सवारी मुझसे सुनिए कहानी सारी दुनिया में क्या क्या सवारी मुझसे सुनिए कहानी सारी पहले की खच्चर की जारी फिर आई भोलों की बारी की तैयारी हाथी की बीती अंबारी की तैयारी हाथी चंपा टम टकले टागा टम टम लेंटो की आई बाजी टांग फैला कर नचने की फिर हो गई लाचारी जब छकड़े टांगा टम टम लंडो की आई बारी टांग फैला कर डटने की फिर हो गई लाचारी कर आज फिर नाकार टैक्सी सर्विस फिर हुई जारी मोटर आज फिर नाकार टैक्सी सर्विस फिर हुई जारी बस और मोटर लाग फिरती है ये मारी मारी बस और मोटर लाग फिरती है ये मारी मारी सब रफ्तार इनके आगे सब गई हारी सबने रफ्तार इनके आगे सब गई है जब खाया पलटा ड्राइवर उल्टा बाकी ना नाकानी तेजी चक्कर निकला चक्कर से जानी जब खाया पलटा ड्राइवर उल्टा भागी नाकारी देवी कर निकला जाकर टूटी ओ तेजी में है जैसे बिजली में कुल सवारी गई बेचारी लगाया कहा कोई बनी है इंग्लैंड में तो कोई अमरीका पम पम पम पम पम पम करके आई नंबर पम खुदा बेड़ा घर करे इन मोटर बनाने वालों का ऐसी खूबसूरत सवारी की शान और उसकी तेज रफ्तार देखकर बंदे को ड्राइवर बनने का शौक जगाया अच्छी मुसीबत में खाया बाकी अब्बा जान जन्नत निशान को सड़क कूटने वाले इंजन पर मुलाजिम थे ना मुल्ला थे ना आलिम थे मगर डेढ़ फिट की दाढ़ी के साथ इंजन पर स्थान से तशरीफ रखते थे कि कोई नाग साहब भी अपनी मोटर पर न सवार होते होंगे न तो घंटी न हारन की जरूरत न पंचर होने की मुसीबत न ना चलने वालों को हरकत न टक्कर का खतरा न पुलिस का डर न ड्राम की दहशत न खौफ खतर एक कम नसीब हम ही है मोटर ड्राइवर के हाथ में है चक्कर वसीली में है सर